ऐसी कृपा हो शंकर ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले भागीरथी का तट हो भागीरथे कतट हो तरुबिल का निकट हो रजनी रहे पल भर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले अंजुलि में गंगा जल हो जेवा पे तुलसी दल हो हर श्वास में हो हर हर हर श्वास में हो हर हर जब प्राण तन से निकली ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले व्रत के तयोदशी हो फिर चंद्रवार भी हो हो सूर्य अयन उत्तर हो सूर्य अयन उत्तर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव हुई जुबा पर शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले आँचल को जब पकड़ लूँ आँचल को जब पकड़ लूँ तब तीन ही चिकिया हो गोदी में गिर पड़े सर गोदी में गिर पड़े सर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव हो जुबा पर शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले परिणाम यदि यही हो तो मृत्यु सुखमय हो परिणाम यदि यही हो तो मृत्यु सुखमय हो यश आपका हो प्रभुवर यश आपका हो प्रभुवर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले जब तन तजापतित ने जब तन तजापतित ने पावन किया था शिव ने जब तन तजापतित ने पावन किया था शिव ने चर्चा यही हो घर घर चर्चा यही हो घर घर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले है राधे श्याम अनुचर है राधे श्याम अनुचर बेहतर है या है बदतर है राधे श्याम अनुचर बेहतर हया है बदतर मारा फिरे न दर दर मारा फिरे न दर दर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले शिव शिव हो जुबा पर शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृतांत जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग वे राक्षस दल को रंग पूर्ण बदरंग महारानी मंदोदरे हो अत्यंत उदास रो उठी एकांत में पति चरणों के पास हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के भूप प्रभो हे भूमंडल के भूप प्रभो मेरी आँखों में घूम रहा मेरी आँखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का रूप प्रभो अब घोर प्रलय का रूप प्रभो हनुमत से जिनके पायक हैं हनुमन से जिसके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे वे कैसे मारे जाएंगे तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे वे लड़के तुम्हें हराएंगे कुसमय में संधि उचित ही है यह कथन प्रवीण निपो का है यह कथन प्रवीण निपो का है औरों को ले खुद भी डूबे यह मार्ग महामूर्खों का है यह मार्ग महामूर्खों का है वह कार्य सदा ही अच्छा है जो मेल और मिल्लत में है आगे तो वही होता है लिखा जो कुछ किस्मत में है लंका यह अपनी बनी रहे लंका यह अपनी बनी रहे क्या काम हमें फिर झगड़ों से बस यही जीत है यही विजय करिएगा सुलह तपस्वियों से बस यही जीत है यही विजय करिएगा सुलह तपस्वियों से सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरारी रहने दे उपदेश यह ओ कम हिम्मत नार वह सूर नहीं वह कायर है जो रण में डट कर हट जाए वह मर्द नहीं ना मर्द है जो कह कर बात पलट जाए गंगा जल उल्टे तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले हो सकता नहीं कभी भी यह लंका का नाथ राय बदले हाँ लंका का नाथ राय बदले जिसके माझी नौ सिखिए हैं वह बेड़ा औघट घाट सदा जिसने सलाह ली ओछों से उसका घर बारह बाट सदा उसका घर बारह बाट सदा उस बानर वाले तपसी से उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है क्या मेरी प्रभुताई कम है दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है दूंगा नहीं कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है मैं हूँ आन वाला मैं हूँ बान वाला बड़ा ज्ञान वाला मैं हूँ आन वाला मैं हूँ ज्ञान वाला बड़े शान वाला चुप अनारे नारे मतवारी गवारी बाला मैं हूँ आन वाला मैं हूँ वान वाला बड़ा ज्ञान वाला यह आतुरे यह चातुरे न कायरे जता गुणागरे उजागरे दिलावरी सुना जा जा जा जा आँख से ओट हो जा अतिवेर हूँ मैं रणधीर हूँ मैं गंभीर हूँ मैं आला मैं हूँ आन वाला मैं हूँ वान वाला बड़ा ज्ञान वाला बड़ी शान वाला चुप अनारे नारे मतवारे गवारी बाला मैं हूँ आन वाला मैं हूँ बान वाला बड़ा ज्ञान वाला बड़ा ज्ञान वाला